तो दोस्तों अभी आपके सामने राग बिहाग पेश किया गया तीन हमारे स्टूडेंट्स नाथ म्यूज़िक एकेडमी के तीनों स्टूडेंट्स थे मान सिंह मान कौर और जसमीत सिंह जी दिलरुबा पुराने साजों में शुमार होता है ladies gentleman actually various instruments are getting lost in the traffic jams in the noise of traffic jams and the modern development. If you listen to modern music, I have nothing against it. It's, it's pleasing. However, the development of computer has done a lot of damage to the development of modern music because such instruments like dilruba, sarangi are entirely missing. And thanks to Sadhguru Jaggi Singh Maharaj that he is encouraging the teaching of such instruments जैसे आजकल आप सुनेंगे जल तरंग आपको सुनाई नहीं देगा कहीं काश तरंग सुनाई नहीं देगा और वो भी दिन दूर नहीं जब आप सारंगी नहीं सुन पाएंगे सारंगी के बहुत कम कलाकार रह गए और इसी तरह ये एक पुरातन चीज़ आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं बहुत ही पुरानी हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन है ध्रुपद धमार की ट्रेडिशन है और ये बड़ी खुशी की बात है कि सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज ने गुरबाणी के प्रचार के लिए रागों को चुना और जो हमारी सही रवायत है उसी रवायत को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं ध्रुपद दमार हमारी बहुत ही पुरातन सनातन जो रिवायत है संगीत की तो दोस्तों मैं सुखविंदर सिंह जी की बात करने चला था इनके बारे में आप ब्रोशर में पढ़िए बीबीसी फिलोमोनिक ऑर्केस्ट्रा उस्ताद अमजद अली खास रविशंकर जी और सबके साथ इन्होंने संगत की है किन किन लोगों का नाम गिनवाया जाए लेकिन इन बच्चों के साथ आपने संगत की है इतनी महानता के बाद इनकी नम्रता में जो महानता मैंने देखी है वो देखने के काबिल थी मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा किस तरह लय को संभाल रहे थे ये और बच्चों को एक किस्म का प्रोत्साहन उनका, उनका कर रहे थे तो आइए अगली आइटम हम सुनते हैं बहुत ही संगीत के बड़े पंडित सरदार हरभजन सिंह जी जो पैनी साहब में संगीत सिखाते हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं बहुत बड़े बड़े गुरुओं से इन्होंने सीखा है और सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के माध्यम से उनके आशीर्वाद से इन्होंने उस्ताद अमजद अली खां को भी गुरु धारण किया सरदार हरभजन जी का स्वागत कीजिए